वैसे इस वक्त विक्रांत रमाकांत को देखकर काफी जेलस फील कर रहा था दरअसल रमाकांत की मीटिंग में जो सेलिब्रिटी थी वो कोई फिल्म एक्ट्रेस थी विक्रांत को उसका नाम तो नहीं याद आ रहा था लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था विक्रांत को लग रहा था कि काश इस बेवकूफ रमाकांत की जगह पर मैं होता तो आज रात उसी हीरोइन के साथ ही बिताता उसे ऐसे ही नहीं जाने देता वहां होटल से निकलने के बाद रमाकांत अपने घर नहीं गया बल्कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे ही ऑफिस के लिए निकल गया रमाकांत इतनी रात को घर जाने की बजाय ऑफिस जा रहा था ये देखकर विक्रांत 120 परसेंट श्योर था कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है वरना वो इतनी रात को ऑफिस क्यों जाता विक्रांत बड़े ध्यान से रमाकांत की एक एक एक्टिविटी देख रहा था उसे पूरी उम्मीद थी कि आज कुछ ना कुछ जरूर निकलकर सामने आएगा रमाकांत की गाड़ी होटल से निकलकर सीधे ही उसके ऑफिस की तरफ चल पड़ी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर गाड़ी रुकने के बाद रमाकांत अकेले ही ऑफिस की तरफ चल पड़ा उसका ऑफिस बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर था रमाकांत लिफ्ट में अकेले सवार होकर ऑफिस वाली फ्लोर पर निकला लिफ्ट से निकलने के बाद एक छोटा सा कॉरिडोर पार करते ही एक दरवाजा दिखाई पड़ा वहां पहुंचने के बाद रमाकांत ने डोर के बाहर लगे सिक्योरिटी सिस्टम में अपना सीक्रेट कोड डाला सीक्रेट कोड डालते ही डोर अपने आप खुल गया विक्रांत ने जल्दी से वो कोड नोट कर लिया शायद आगे कभी काम आ जाए रमाकांत का ऑफिस ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन काफी अजीब सा लग रहा था अजीब मतलब वहां ऐसी ऐसी चीजें रखी हुई थी जिसे विक्रांत शायद आज पहली बार देख रहा था ऑफिस के भीतर घुसते ही रमाकांत दाई तरफ मुड़ा और वहां पर बने एक बड़े से वार्डरोब के लॉकर पर अपना फिंगर लगाया तुरंत ही वार्डरोब का डोर ओपन हो गया उस वार्डरोब के भीतर कई छोटे छोटे दराज बने हुए थे जो देखने में बिल्कुल वार्डरोब की वुडन सतह सी लग रही थी यानी कि अगर कोई आदमी पहली बार वार्डरोब खोले तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ दराज भी है रमाकांत ने सिर्फ एक दराज पर अपना हाथ रखा और वो तुरंत ही खुलकर सामने आ गया इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम तो विक्रांत ने कभी नहीं देखा था वो टेक्नोलॉजी से लेस इस दराज की सिक्योरिटी को देखकर चौंक उठा इससे भी ज्यादा हैरानी विक्रांत को यह सोचकर हो रही थी कि आखिर रमाकांत ने इतनी टाइट सिक्योरिटी में कौन सी चीज रखी हुई है और और इतनी रात को अचानक उसे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई विक्रांत काफी उत्सुकता से रमाकांत के एक एक स्टेप पर अपनी पैनी नजर रखे हुए था उस दराज में एक काफी पुराने मॉडल का फोन रखा हुआ था विक्रांत ने फोन पर एक नजर पड़ते ही पहचान लिया कि यह नोकिया का 1100 मॉडल है विक्रांत को समझ नहीं आया कि आखिर रमाकांत इतने पुराने मॉडल का फोन क्यों यूज कर रहा है रमाकांत ने फोन बाहर निकाला फिर उसका स्विच ऑन किया फोन का स्विच ऑन करने के बाद रमाकांत ने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाकर किसी का नंबर डायल किया और तुरंत ही फोन को कान से लगा लिया विक्रांत ने पूरी कोशिश की कि वो नाम पढ़ ले लेकिन रमाकांत ने इतनी जल्दी फोन अपने कान से लगाया कि विक्रांत को नाम पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाया इसके बाद रमाकांत ऑफिस से इधर उधर चहलकदमी करते हुए और बात करने लग गया विक्रांत इस वक्त सिर्फ रमाकांत को ऑफिस में इधर उधर टहलते हुए देख पा रहा था उसे कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी बदकिस्मती से वो सीक्रेट माइक जिससे विक्रांत आवाज सुन सकता था वो जिया की फ्रेंड विनीता की बॉडी में फिक्स हो गया था यानी विक्रांत रमाकांत को देख रहा था लेकिन आवाज वो सिर्फ विनीता की ही सुन सकता था इस वक्त विक्रांत को विनीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था अगर ये हरामखोर बीच में ना आई होती तो मैं आराम से बैठकर रमाकांत की सारी बात सुन रहा होता सिर्फ किडनैपिंग केस ही नहीं बल्कि इसलिए भी वो रमाकांत की बात सुनना चाह रहा था क्योंकि उसे आज थी क्या पता रमाकांत कुछ बिजनेस से जुड़ी सीक्रेट बात कर रहा हो और और उससे मेरा कुछ फायदा हो जाता लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं रमाकांत इधर उधर टहलते हुए काफी देर तक फोन और बातें किए जा रहा था बीच बीच में वो जोर से हंसे भी जा रहा था जो कि सिर्फ उसकी शक्ल देखकर विक्रांत को पता चल रहा था बाकी वीडियो तो पूरा म्यूट ही था इस बीच विक्रांत के दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने अपना माइक भी ऑन कर लिया उसने सोचा कि जब तक रमाकांत फोन और बात कर रहा है तब तक उस लड़की की बातें ही सुन ली जाएं। उसने अपने दिमाग में एक क्लिक किया और फिर उसे विनीता की सारी आवाज सुनाई देने लग गई इस वक्त वो भी किसी से फोन और बातें कर रही थी विक्रांत ने जैसे ही फोन और दूसरे आदमी की आवाज सुनी वो बिल्कुल सन्न रह गया विनीता तुम तुम बहुत बोल्ड हो यार मैंने आज शादी तुम्हारे फ्रेंड से की है और सुहागरा तुम मनाने आ गई <laughs> ये आवाज सुनकर विक्रांत के होश उड़ गए ये जिया के बॉयफ्रेंड आर्यन की आवाज थी ये जानने में विक्रांत को एक सेकंड भी नहीं लगा लेकिन आर्यन के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो विक्रांत के होश उड़ गए उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन इतना गिरा हुआ हो सकता है विक्रांत की आंखों के आगे जिया का मासूम चेहरा आ गया उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था चुप तो रहो तुम समझे विनीता ने आर्यन को प्यार से डांटते हुए कहा अगर इतना ही मुझे चाहते हो तो फिर आज जब रमाकांत अग्रवाल अपने बेटे के लिए जिया का हाथ मांगने आया था तो फिर उसे जाने क्यों नहीं दिया पैसे भी तो दे रहा था वो पागल हो क्या तुम आर ने जवाब दिया तुम खुद सोचो हम दोनों जिया की वजह से ही तो मिले और और अगर वो चली जाती तो फिर हम कैसे मिलते फिर तुम अपने हस्बैंड से क्या बहाना बनाकर आती और रही पैसे की तो बेबी पैसे तो तुम्हारे हस्बैंड के पास भी तो बहुत हैं हैं हे भगवान कोई इंसान इतना भी गिरा हुआ हो सकता है क्या विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया गुस्से से उसका खून खोल रहा था अच्छा एक बात बताओ आर्यन तुम और जिया इतने साल से साथ हो क्या तुमने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया इतने दिन तक तुम टिके कैसे रहे उसके साथ बिना कुछ किए हे बेबी अब क्या बताऊं सच कहूं तो मेरा कभी मन ही नहीं हुआ कि मैं उसके बदन को हाथ लगाऊं अब तुम्हारी जैसी सेक्सी बॉडी सबकी थोड़ी ना होती है आह क्या कमर है तुम्हारी क्या होठ है मजा आ गया आर्य ने वासना से भरी आवाज में जवाब दिया <laughs> चुप रहो तुम विनीता ने शर्माते हुए जवाब दिया क्यों रहने दो जान इसके बाद आर्यन और विनीता के बीच प्राइवेट बातें शुरू हो गई ये सुनकर विक्रांत को बड़ा गुस्सा आ रहा था उसका तो जी कर रहा था कि अभी के अभी जाकर आर्यन और विनीता की सारी सच्चाई जिया को बता दे लेकिन अभी विक्रांत के पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम था अभी वो अपने किडनैपिंग केस से ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना चाहता इसी बीच उसे रमाकांत की याद आ गई और उसने अपना सीक्रेट कैमरे वाला सिस्टम भी ऑन कर दिया तुरंत ही उसे रमाकांत के ऑफिस का सीन दिखाई देने लगा अब तक रमाकांत ने फोन रख दिया था फोन रखने के बाद वो ऑफिस में ही एक साइड पर बने मिनी बार की तरफ गया वहां से उसने विस्की की एक बोतल निकाली और गिलास में निकालकर सोफे पर बैठकर वो विस्की पीने लगा इस वक्त भले ही विक्रांत रमाकांत के ऑफिस का सीन देख रहा था लेकिन अभी भी उसके दिमाग में आर्यन और विनेता की आवाज ही गूंज रही थी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन जिस पर जिया इतना भरोसा करती है वो ऐसी हरकत करेगा काफी अजीब सी सिचुएशन थी अभी रमाकांत को सोफे पर बैठकर शराब पीते हुए तीन चार मिनट ही हुए थे कि वहां से उठकर फिर से अपने सीक्रेट दराज की ओर बढ़ चला वहां पहुंचकर उसने फिर से फोन को कान से लगा लिया तब जाकर विक्रांत को पता चला कि रमाकांत के पास किसी की कॉल आई है तभी वो उठकर यहाँ आया वो अपने एक हाथ से फोन पकड़कर बात कर रहा था और दूसरे हाथ से उसने विस्की की गिलास पकड़ी हुई थी अभी रमाकांत को फोन को कान पर लगाए बामुश्किल दस बारह सेकंड ही हुए थे कि अचानक से उसके हाथ से वाइन का गिलास छुटकर जमीन की ओर गिर पड़ा क्योंकि फ्लोर पर कारपेट बिछा हुआ था तो कांच का गिलास उस पर गिरने के बाद भी नहीं टूटा लेकिन उसमें पड़ी शराब कॉरपेट पर फैल गई ये गिलास रमाकांत के हाथ से यूं यूं नहीं छूटा था बल्कि रमाकांत के सदमे में आने की वजह से उसके हाथ से छूट गया था विक्रांत को तो उसका कांपता हुआ शरीर भी नजर आ रहा था रमाकांत को अचानक से इतने सदमे में देखकर विक्रांत की भी धड़कन तेज होगी वो सोच में पड़ गया कि आखिर रमाकांत ने ऐसा क्या सुन लिया कि वो इतने सदमे में आ गया और उससे भी ज्यादा विक्रांत ये जानने को उत्सुक हो रहा था कि आखिर रमाकांत उस वक्त बात किससे कर रहा है